सुखदाता उन्हीं कृपाल पुर बाहिर गए गजरत दुर्ग मंगावत भये की कृपा करे सकल सराये उचित जिन जिन ते चाहे कर्ण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहाँ शीतल अंगराई भरत दीन निज बसन प्रभु से वही सब भाई

गिरिजा जा सुप्रीत शिवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई ते अवसर मुनि नारद आई कर तल भी

और भगवान राम से एकांत में वशिष्ठ जी मिलने आए और वशिष्ठ जी ने अपना पूर्व इतिहास सब सुना दिया उनको कि उन्होंने पुरोहित कर्म से स्वीकार किया और फिर भगवान के निकट रह करके उनके दर्शन लाभ करके उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया अंत में भगवान की प्रार्थना करते हुए वशिष्ठ जी अपने घर चले गए भगवान से कहा कि हमारा प्रेम सदा बना रहे जन जन्मांतर ये कभी घटे नहीं बस अपना चित्त सदा परमात्मा में लगा रहे उसी में स्थिर रहे चले नहीं यही अंतिम उपलब्धि है उसी की इच्छा वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी भगवान के जो गुरु हैं वो भी यही कामना करते हैं कि चित्त सदा भगवान में लगा रहे इसके बाद कहते हैं कि ऐसे कहीं मुनि वशिष्ठ ग्रह आए ऐसा कह करके वशिष्ठ जी अपने घर आ गए इसके बीच में ऐसा लगता है कि वशिष्ठ जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जन जन प्रपद कमल कबों घटे जन नेव इसका ऐसा कह करके मैंने याचना जैसी करके वशिष्ठ जी ने भगवान से की लेकिन भगवान ने अपने मुख से उनको कुछ कहा नहीं अब वो लीला जैसी मानवीय लीला कर रहे हैं तो अपने गुरु को कैसे कहें कि हाँ तुमको तुम्हारे हृदय में हमारी भक्ति सदा बनी रहेगी ऐसा कह नहीं सकते इसलिए उन्होंने अपने मन में ही कर लिया और उसकी सूचना इस प्रकार से दे दी कृपा सिंधु के मनाति भाई भगवान श्री राम जी को ये बात बहुत अच्छी लगी कि वशिष्ठ जी ज्ञानी तो है ही है लेकिन भक्ति भी चाहते हैं तो इनको भक्ति भी प्राप्त होनी चाहिए ऐसा उन्होंने अपने मन में विचार करके प्रसन्नता प्रकट की और वशिष्ठ जी अपने लौट करके घर आ गए अब देखते हैं कि ये जो अब भगवान के चरित्र हैं ये समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं माने भगवान की लीलाएं अब यहाँ आकर के समाप्त हो रही हैं वशिष्ठ जी सब भगवान श्री राम जी के पास गए जब लौकिक शब्दों में बताइए कि भगवान जब अपने परम धाम के लिए यात्रा करने के लिए तैयारी कर रहे थे बस जी समझ गए कि अब भगवान राम यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं ज्यादा दिन तब वो यहाँ को वशिष्ठ जी उनके पास गए और इस प्रकार से उनसे प्रार्थना की आगे की एक घटना का और वर्णन करते हैं यहाँ वो घटना भी इसी बात का संकेत है कि भगवान राम अब अपनी लीला समाप्त कर रहे हैं आगे कहते हनुमान भरता दिखाता अब एक बात की एक दिन की बात ये हुई कि भगवान ने हनुमान को भारत इत्यादि भाइयों को साथ में संग लिए सेवक सुखदाता सुखदाता भगवान अपने सेवकों को साथ में लेकर के पूर्व बाहर गए नगर के बाहर गए भगवान है उनके साथ में भरतारी भाई हैं हनुमान जी हैं और कुछ सेवक भी हैं उन सबको लेकर के राजभवन से निकले और नगर से बाहर गए ये देखते हैं कि अब बराबर ये देखते रहते हैं कि भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी जब भगवान राम के साथ में होते हैं तो हनुमान जी भी रहते हैं जैसे अन्य भाई रहते हैं तैसे हनुमान जी भी हैं उन्हीं में से एक कि उनकी भी गिनती हो गई वे उनको भाइयों से यानी भरत आदि अलग हो और हनुमान जी अलग रहे तो ऐसे करके अब नहीं हो गया है हाँ, वही बात को फिर ध्यान रखते हैं कि भगवान जब नगर के बाहर गए तो भी भरत आदि को साथ लेकर के गए तो हनुमान जी भी उनके साथ गए लेकिन इस बार उनको क्या करना था कि कुछ जो है वो दान बांटना था लेकिन देखो दान भी किस प्रकार का बट रहा है इस बार कहते हैं कि पुण्य कृपाल पूर्व बाहर गए कृपाल धान भगवान सुखदाता भगवान नगर के बाहर गए और गजरथ तुरग मंगावत भय अब आज भगवान ने दान देने के लिए हाथी घोड़े मंगाए रथ मंगाए मान ये क्या है सब यात्रा का की सामग्री है ज्ञान है सब यात्रा के लिए तो भगवान की भी यात्रा प्रारंभ हो रही है और सब अयोध्या वासियों के लिए भी उनकी यात्रा के लिए हाथी घोड़े दिए जा रहे हैं कि अब चलो हो गया सब काम अब यहाँ हम्म। जैसे चलते समय सवारी का इंतजाम किया जाता है तो सवारियों का इंतजाम होने लगा और देखी के पाकर सकल सराहे गए तो भगवान ने उनको सबकी प्रशंसा की हाँ बहुत अच्छे घोड़े हैं बहुत अच्छे हाथी हैं रथ भी बढ़िया है घोड़े भी बढ़िया है सवारियां सब पालकी वगैरह सब बहुत बढ़िया है ये सब के सब उन्होंने देखी और सबकी सराहना की और दिए उचित जिन जिन से चाहे और फिर भगवान ने उनको सबको बांटा कहा कि देखो तुम्हारे लिए सवारी ठीक है तुम इसको ले लो तुम्हारे लिए सवारी ठीक है तुम इसको ले लो और चाह उन्होंने भी लोगों ने जो इनको सवारी लेनी थी उन्होंने भी चाहा कि हम ये सवारी हमारे लिए ठीक रहेगी उन्होंने अपने उसी प्रकार से जैसी जिसकी इच्छा थी और जैसा भगवान ने उचित समझा उस उस प्रकार से उनको सबको बांट दिया जो लोग घोड़े से सवार होने की सामर्थ्य थी शरीर में ताकत थी उनको घोड़े दे दिए जिन लोगों को और दूसरे प्रकार के वो थे उनको हाथी दे दिए जो हाथी घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते थे उनको रथ दे दिए कुछ लोग ऐसे भी थे कि रथ में भी नहीं बैठ सकते थे पालकी की जरूरत थी तो उनको पालकी दे दी बाकी सवारियां अब घोड़ा तेज तो चालीसदार दौड़े लेकिन उसको बैठने वाले के शरीर में ताकत भी तो नहीं थी इतनी तक बैठ करके दौड़े कोई बंदे व्यक्ति थोड़ी बैठ सकता हाथ पैर कमजोर हो जाए तो घोड़े वोड़े सवारी नहीं हो सकती तो उसके लिए पालकी की जरूरत पड़ती है तो ये सब देखना पड़ता है किसके लिए कौन सवारी ठीक है उसके लिए वो सवारी जो वो हो भगवान ने देख देख करके दिए उचित उचित यही देखा कि किसके लिए कौन सवारी ठीक है और उचित देख करके उनको भगवान ने बांट दिया बांट दिया बस उसके बाद हर सकल श्रम प्रभु श्रम पाई अब देखो भगवान थक गए काम करते करते तो हरण सकल श्रम स्वयं भगवान जो है समस्त संसार के प्राणियों के श्रम को हरने वाले हैं लेकिन अब अंतिम लीला है थकने की अब भगवान थक गए जैसे जीवन में सब कार्य करते करते वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति थक जाता है तो भाई अब थक गए अब कुछ नहीं कर सकते आराम करें बैठे ऐसे भगवान भी अब थक गए <clears throat> बहुत लीला हुई बहुत कार्य लेकिन थकने की लीला है भगवान का थकेंगे भगवान जो तो अनादि अनंत है नित्य तो शक्ति समान संपन्न है वो थकते नहीं जब लीला होगी तो लीला थकने की भी लीला होगी इसलिए तुलसीदास जी पहले कहते हैं कि हरण सकल श्रम भगवान सबका श्रम हरण करने वाले हैं वो बड़ा क्या थकेंगे लेकिन फिर भी <clears throat> प्रभु श्रम पाई फिर भी भगवान थके अब समझ लो कैसे थके थकते नहीं है फिर भी थकना दिखाया उन्होंने और गए यहाँ शीतल अमराई और उसके बाद फिर भगवान वहाँ नगर के बाहर अमराई आम का बगीचा था वहाँ ठंडक थी शीतलता थी वहाँ पहुंच गए भगवान अब समझ लो चैत का महीना है भगवान वहाँ पहुंच गए अमराई में आम्र वृक्ष के नीचे वहाँ बैठे हुए जब वहाँ बैठने लगे भगवान थक करके तो भरत दीन निज बसन ताई अब वहाँ कोई और आसन तो था नहीं तो भरत जी ने अपना वस्त्र जब वो वहाँ बिछा दिया भगवान के बैठने के लिए और बैठे प्रभु से वही सब भाई और वो भगवान उसी वस्त्र पर बैठ गए और सब भाई लोग सब उनके भगवान की सेवा करने लगे अब जैसे श्रमित हैं थके हुए हैं तो वैसे उनके सेवा में लग गए मार्ग सुख सुत मार्ग करी अब हनुमान जी के उस समय भगवान के ऊपर पंखा चलने लगे हवा करने लगे पंखा चलाने लगे जब पंखा चला में तो पसीना सीना सूखे थकान काम दूर हो तो इस प्रकार सेवा करने लगे लेकिन पुलक बकुस लोचन जग भरई लेकिन हनुमान जी का शरीर जो है पुलकित हो गया और लोचन जल भरई उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए हनुमान जी को हनुमान जी भगवान को थका देख करके ही व्याकुल हो गए नेत्रों में अश्रु भी आ गए जल्दी जल्दी पंखा डालने लगे परेशान होने लगे अब देखो ये सेवा आपका महाकाली जो है हनुमान जी लग गए अब हनुमान जी ने पंखा क्यों जला क्योंकि मारुत सुत वो वायु पुत्र है इसलिए जो हवा करने लगे इसलिए नाम दे दिया करें मारुत सुत तब मारुत करेगी मारुत करेगी मैंने हवा कर रहे हैं उनके ऊपर पंखा बोल रहे हैं हनुमान सब नहीं बढ़ आगे अभी टिप्पणी भगवान शंकर जी की है तो देखा ये दृश्य है अब ये जो दृश्य है ये अंतिम दृश्य है भगवान का भगवान हाथी घोड़े बांट करके अमराई में बैठे हुए हैं थके हुए हैं हनुमान जी पंखा चल रहे हैं भाई लोग उनकी सेवा कर रहे हैं बस ये उनकी भगवान की अंतिम लीला है ये अब शंकर जी कहते हैं कि देखो हनुमान सब नहीं बड़ा भागी हनुमान जी ये सेवा कार्य में लगे हुए बड़ा ऐसा भाग्यशाली कौन होगा नहीं को तो रामचरण अनुरागी हनुमान जी के हृदय भगवान के चरण में बड़े प्रेम है और देखो इस प्रकार के बड़े प्रेम को बच्चों की सेवा में लगे हैं गिरजा जा सुप्रीत शिवकाई और जो गिरजा पार्वती यही पार्वती सुनो कि जा सुप्रीत शिवकाई जिसका प्रेम जिसकी सेवा भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से बार बार प्रवीण ने जो गायी भगवान ही कहते रहते देखो हनुमान बड़े सेवा करने वाला है प्रेम हनुमान में ऐसे बार बार भगवान कहते रहे उनको इस प्रकार से भगवान वहां पर बैठे हुए हैं और उनकी थकान मिट रही है उसी समय नारद जी वहां पर आते हैं बस अब कहते हैं ते ही अवसर मुनि नारद आए कर तलमीन उसी समय जो है वहाँ नारद जी आए पीड़ा बजाते हुए भगवान के सामने जहाँ बैठे हुए तो वहाँ पहुंचे गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन और भगवान की स्तुति गाने लगे भगवान के सामने आकर के आते हैं तो उनसे प्रार्थना शरद कुमार जैसे आए भगवान से प्रार्थनाएं की नारद जी भी आते हैं भगवान की स्तुति बोलते हैं प्रार्थना बोलते हैं आकर के नारद जी की जो स्थिति है अब ये देखें कि भगवान की स्तुति नारद जी कैसे करते हैं वो यहाँ पर देते हैं ये भी एक सुंदर स्तुतियां बहुत सी हैं उनमें से एक ये भी नारद जी की स्तुति और एक प्रकार से भगवान की जो लीला संवरण समाप्ति हो रही है उसमें ये अंतिम स्तुति है बस ये नारद जी की स्तुति भगवान की जो हो रही है ये बहुत सी स्तुतियां हुई ऋषियों ने सबने की वाल्मीकि अरबाज इत्यादि ने भी की और उन लोगों ने भगवान की स्तुतियां की ब्रह्मा जी भी आए इंद्रा देवता भी आए शंकर जी ने भी स्तुतियां की लेकिन यह अंतिम स्तुति है <coughs> माम अवलोक पंकज लोचन कृपा विलोक निशोच विमोचन मधुप हरी जातु धान बल भंजन मुनि सज्जन रंजन यग गंजन भूसुर सती नव ब्रंद के समान नेत्र के माने कृपा दृष्टि डालने वाले हैं दयालु हैं कृपालु हैं प्रेम भरी दृष्टि जिनकी की है इसलिए वो पंकज लोचन है कमल जैसे नेत्र इसलिए भगवान के हैं मानव लोक है हमारे पर कृपा दृष्टि डालिए आपके सुंदर कृपा भरी दृष्टि है हमारे ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि डाले मैंने एक प्रकार से नारद जी को ये कहना चाहिए जैसे शुरू करते हैं प्रार्थना तो ऐसा लगता है कि अब तक भगवान की तो लीला चलती रही लेकिन नारद जी पछताते रहे भगवान की लीला बीच बीच में देखते रहे भगवान से आते रहे मिलते रहे लेकिन उनको अपने मन में पश्चाताप होता रहा कि हमने कहा भगवान को श्राप दे दिया और कहा भगवान उस श्राप के कारण से अवतार लेकर के इस प्रकार से सीता आदि का दुख राम को मारने की सब लीला बनो में इकट्ठा करना ये सब भगवान ने इतना श्रम किया तो केवल हमारी भूल के कारण से हुआ इसलिए बार बार वो पश्चाताप करते रहते थे वहां पर जब किशकंधा नगरी के पास पंपा सर में जब भगवान बैठे हुए थे लक्ष्मण जी वहां थे सीताराम हो चुका था तब जब नारद जी वहां पहुंचे तो भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और भगवान को देख करके सीताराम के वियोग में भगवान राम दुखी हैं तो हम नारद जी को बहुत दुख हुआ उस समय और बड़ा अपने आप को लगा पश्चाताप लगा कि क्या हमने कर दिया भगवान से वहां उन्होंने प्रार्थना भी की वार्ता भी हुई लेकिन जब नारद जी आ गए तो भगवान जो सीतारण के वियोग के दुख में दुखी हो रहे थे हाय हाय कर रहे थे वो सब भूल गए भुला दिया या भूल गए उसके बाद हनुमान जी से नारद जी से बड़े प्रेम पूर्वक बात करने लगे प्रसन्नता पूर्वक बात करने लगे नारद जी को भगवान ने ये नहीं दिखाया कि नारद देखो तुम्हारे साथ के कारण ये सब भुगत रहे हैं हम्म, ये मात्र उनके व्यवहार से व्यक्त नहीं हुआ प्रसन्न दिखाई दिया हम्म, और फिर नारद जी ने जो प्रश्न किए उनका उत्तर भी फिर भगवान ने दिया नारद जी ने चर्चा भी चलाई कि आखिर भगवान ये सब क्यों होता क्यों हम साथ देते हम विवाह करना चाहते थे अगर कर लेने देते आप तो ये समस्या क्यों होती तो भगवान ने कहा कि नहीं करने दिया वो बहुत अच्छा दिया हमने इतना दुख से दिया वो हमारे लिए ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए विवाह करना ठीक नहीं था इसलिए नहीं करने दिया और फिर वहां तमाम दोष दिखा दिए स्त्रियों के दोष का भगवान ने स्वयं अपने मुख से वर्णन कर दिया कहा कि विवाह करो बस सब माया जाल घेर दिया तुमने बस सारी जिंदगी मार खाते रहो दुखी होते रहो पीड़ित होते रहो नाना प्रकार की व्याधियां नाना प्रकार की समस्याएं सहते रहो और फिर तुम फिर हमको भूल ही जाते भी ऐसे चक्कर में पड़ जाते हमारा कहां तुमको ध्यान देता इसलिए सब बताया वहां पर नारद जी ने भगवान ने नारद जी को माने वो उधर रोना धोना भगवान को बुला के कहने की बात है लेकिन नारद जी को फिर भी अब भी लगता है इनके वचनों से कि मामो लोक है पंकज लोचन वैसे तो कोई भी भक्त होगा भगवान से कहेगा कृपा निधान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालो लेकिन नारद जी के भाव जो है अभी <clears throat> उनको लग रहा है जैसे कि वो खेल उनको अपने मन में <clears throat> कृपा विलोचन सोच विमोचन सोच विमोचन करके केवल यही बताते हैं कि हमारे पास सोच हमारे मन में है किस प्रकार का साथ दे दिया अब आप कृपा करो ये हमारे हृदय का सोच तो मिटे पश्चाताप तो हमारा मिटे खेत तो मिटे इस प्रकार की कृपा करो कृपा दिलोकन कृपा दृष्टि डालो नील ताम्रस श्याम काम हरे हे भगवान आप नील ताम्रस श्याम जैसे ताम्रस कमल नील वर्ण का कमल हो वैसे ही आपका सुंदर स्वरूप काम हरि हृदय कंज उसके आत्मा ग्रंथ हो काम हरि के मन शंकर जी शंकर जी के हृदय के उनका शंकर जी का हृदय कमल के समान और उसमें आप मकरंद मधुपारी उसके मकरंद का पान करने वाले आप मधुर के समान हैं हम्म, हे हरि भगवान को हरि भी कहते हैं शुभ कारण करने वाले हरि हे भगवान आप शंकर जी के हृदय में सदा वास करते हैं शंकर जी का हृदय अगर कमल के समान है मकरंद भरा हुआ तो आप भ्रमर होकर के उनके हृदय में बास करते हो ये तात्पर्य काम आदि के मन अगर शंकर जी लेते हैं तो अन्यथा ऐसे भी कह सकते हैं कि नील काम रस श्याम ये भगवान आप जो है श्याम वर्ण स्वरूप सुंदर है ये और काम हरि आप भी काम हरि हो लेकिन काम और शंकर जी प्रसिद्ध है लेकिन भगवान की भी भक्ति करने वाले व्यक्तियों को कामना नहीं रह जाती वो भी निष्काम हो जाती और हृदय का इनके मधु और जो भक्त लोग हैं उनके हृदय के कमल रूपी मकरंद के आप मधुर हैं मद मधुप हैं ऐसे भी कर सकते हैं तो जात धान बरूद बल भंजन जात धान बल निशाचर बरूद बल समूह निशाचरों के समूह के समूह जिसे निशाचर हुए बल भंजन उनकी सारी शक्ति को आपने नष्ट कर दिया बल के मन सेना है बल के मन वैसे ताकत लगता है लेकिन बल के मन सेना भी है निशाचरी समस्त निशाचरी सेना का आपने संहार कर दिया विनाश कर दिया विनाश करने वाले हैं मुनि संजन रंजन मुनि और सज्जन लोगों के आप हृदय में हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं आनंद देने वाले हैं मुनियों को सज्जनों को भगवान क्यों प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में कामना नहीं है निष्काम है जो निष्काम है उनको भगवान आनंद प्रदान करने वाले हैं अब जो संसार की कामना में पड़े उनकी भगवान कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं दोनों काम करते हैं जो जिनमें की कामनाएं हैं और भगवान की शरण में है प्रार्थना करते हैं उनकी कामनाएं पूरी करते हैं जिन्होंने कामनाएं क्या कर दी उनको परमात्मा का सीधा आनंद परमानंद उनके हृदय में प्राप्त होता है तो कहते हैं मुनि सज्जन रंजन अगजन अगर मन पापों का नाश करने वाले हैं जो भगवान का स्मरण करेगा पाप नहीं रह सकते पापों का विध्वंसक है और भूसुर सफेद गंध बलाहक भूसुर मान है पृथ्वी के देवता मान विप्र लोग ब्राह्मण लोग उनके जन नव वृंद भूषण भी मन मन विप्र लोग पृथ्वी के ऊपर धान की खेती के तरह जन्म आए तो उनको पालने के लिए आप जो वो बंद है बरात तो मैंने मेघ जैसे मेघ आ जाए तो मेघ की वर्षा हो जो खेती धान खेती हरी होती है ऐसे भगवान जो है मित्रों को आनंद देने वाले हैं उनको बढ़ाने वाले हैं उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते रहते हैं दूसरे सती नवगंध बलाहक असरण शरण <clears throat> मन जिसकी की कोई शरण नहीं है अनाथ है उनकी आप शरण हो जब तक किसी को कहीं न कहीं शरण मिली हुई है तब भगवान निश्चिंत है जब देखते हैं कि तो ऐसा है जिसकी कोई शरण देने वाला नहीं है तब फिर उसकी शरण देने वाले फिर भगवान है प्राय संसार में लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं जाते क्योंकि उनको शरण दूसरी जगह बहुत मिली हुई है कोई अपने परिवार में शरण लिए हुए है कोई अपने धन में शरण लिए हुए है पद में नौकरी चाकरी जहाँ कहीं कर रहा है वहां पर शरण दिए हुए है शरण स्थल लोगों के बहुत है तो बहुत शरण स्थल तो भगवान की शरण तो फिर उनकी क्या जरूरत भगवान की शरण लेकिन जहाँ जैसे कि कोई शरण नहीं तो अब वो कहाँ जाए क्या हो तो वो भगवान कहते हैं अब तो हमारी शरण तो अशरण शरण दीन जन गाहक दीनों के जन्म भक्त जो दीन भक्त हैं उनके आप ग्राहक हो माने उनके चाहने वाले हो ग्राहक माने उनको जो है प्रिय है उनको उनको आप स्वीकार करते हो दीन के माने दरिद्री नहीं है दीन के माने निरहंकार निरहंकार जो अहंकार रहे थे वे दीन है जो अहंकार है उनमें दीनता नहीं है विनम्रता नहीं है तुलसीदास जी जो है वो दीन शब्द निरहंकार अर्थ में प्रयोग करते हैं दीन जन ग्राहक निरहंकार भक्तों के ग्राहक है भुज बल विपुल भार में खंडित भुज बल विपुल आपके भुजाओं में बहुत शक्ति है आप सब शक्तिमान हैं और भारमय खंडित पृथ्वी का भार उतारने वाले हैं इतनी शक्ति है कि पृथ्वी पर निशाचरों का भार हुआ आपने सब दूर कर दिया खर दूर कैसे मैघार खंडित किया खरदूषण विराज मत पंडित खरदूषण को मार गिराया विराज को खुद के जमीन में गाड़ दिया इनके सबके मारने वाले पद जो है ऐसे आप हैं इनका सबके पद करने में कुशल है पंडित मन या कुशलता के या आप ये सब इनका विनाश करने वाले निशाचरों करने में बड़े बुद्धिमान या कुशल है राम नारी सुखरूप रूपवर आप रामनारी राम के शत्रु हैं राम का विनाश कर दिया इसलिए रावणादि में आ गया सब और सुख रूप और स्वयं आनंद स्वरूप है रावणार के साथ सुख रूप देना अच्छा है रावणार जो है वो रावण जो है रुलाने वाला है रावण किसे कहें जो दूसरे को रुलावे सो रावण हाँ? तो जब रावण दूसरे को रुलाने वाला तो भगवान कहते हैं सुख रूप सुख देने वाले हैं बस दोनों एक दूसरे को विरोधी हैं राम रावण में राम दूसरों को दुख देगा भगवान दूसरों को सबको सुख देंगे तो कहते हैं रावण सुख रूप अगर सब राजाओं के राजा हैं राजाधिराज माने सब राजा तो पृथ्वी के लिए एक राजा हो सकते हैं और उसके बाद गंधर्व लोग के राजा और पितर लोग के राजा और स्वर्ग लोग के राजा जितने भी राजा हुए इंद्रादि राजाओं का भी राजा कौन तो कहे वो परम परमात्मा सबका राजा है ऐसे अपर परम परमात्मा है राजा भी राजे भूपर और चैत दशरथ कुल कुमुद सुधाकर आप जो है दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी को प्रसन्न करने के लिए सुधाकर के समान है चंद्रमा जैसे रात्र में चंद्रमा उदित होता है तो कुमुदनी खिल जाती है प्रकाशित होती है कुमुदनी तो ये कुमुदनी के समान क्या है दशरथ कुल ये समस्त कुल जो है सबका कुल सबको आनंद प्रसन्न करने वाले हो गया सुजस पुराण विदित निगमागम कहते हैं कि सब जो है वो सुयस पुराण विदित आपका जो यश है वो पुराणों में विदित है निगम आगम विदित है ये सब शास्त्रों का नाम देते रहते हैं सब आगम शास्त्र का भी नाम देते रहते हैं तुलसीदास जी पुराणों में तो भगवान की महिमा है ही है वेदों में भी भगवान की महिमा है और फिर आगम शास्त्र जो है उनसे अलग हट करके हैं उनमें भी है ये जो तो अपने शास्त्र मुख्य रूप से वेद है उपनिषद है फिर पुराण है फिर महाभारत है ये स्मृति ग्रंथ है इतिहास ग्रंथ है महाभारत इतिहास है रामायण इतिहास ग्रंथ है तो ये तीन प्रकार के तो ये ग्रंथ हुए वेद उपनिषद और इतिहास और चौथा जो है आगम साथ रहे ये चार प्रकार की जो है चारों में भगवान की भक्ति भगवान की महिमा परमात्मा क्या है अध्यात्म विद्या क्या है इन सभी ग्रंथों में उसी का वर्णन है भगवान की महिमा है गावत स्वरूप संत समागम कहते हैं ये सब जो है ये है शास्त्रों के अतिरिक्त जिन संतों ने आपकी महिमा जानी और आपका आनंद प्राप्त किया वे लोग तो भी इसी का गान करते हैं गावत स्वरमत